इनकी इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में खटकती रहेगी मगर ये कि उनके दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएं और अल्लाह खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है